सुंदर होगा देखो हमेशा तो सूर्य ही अंधकार को नष्ट करता है लेकिन कदाचित उल्टी बात हो जाए कि अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे तो ऐसे करके कभी ये माया में जगत और ये अविद्या यही व्यक्ति को जो है वो ऐसा कर दे कि वो आनंदित कर दे और हम उसका जो है वो सुखी हो जाए व्यक्ति तो ये सब असंभव है ये उल्टी बातें सब ये नहीं हो सकती है राम विमुख निजी को पावे इसी प्रकार भगवान के बिना भगवान राम से विमुख होकर के परमात्मा से विमुख होकर के जीव को सुख नहीं मिल सकता सुख कर परमात्मा ही मिल इसके माने ये है कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन एक दूसरे के विरोधी है विषयी जीवन और भक्त का जीवन एक दूसरे के विरोधी है विषयी व्यक्ति का जीवन जो वो दुर्बलता का जीवन रोगी का जीवन जीव की अवस्था विषयी है और रोगी होकर के नाना प्रकार के दुखों में पड़ा अब जो जीव का रोग दूर हुआ तो विषय आप दुर्बलता गई वैराग्य आया परमात्मा का ज्ञान हुआ परमात्मा में प्रेम हुआ भक्ति हुई अब ये अब तो सब रोगी और निरोगी ये दो विपरीत अवस्थाएं ऐसे ही जीव अज्ञान में पड़ा हुआ जीव आत्मा से ज्ञान में पड़ा हुआ आत्मभाव में रहने वाला आत्मा इन दोनों की विपरीत अवस्थाएं ये दो अवस्थाओं के विपरीत है एक ही में तो दोनों को नहीं खाना जा सकता योग नहीं हो सकता विषयी व्यक्ति ही ज्ञानी भी हो जा सकता है विषयी व्यक्ति तो विषयी बना रहते हुए भगवान का भक्त भी हो जाता है सुख तो नहीं हो जाता वो तो जो विषया सकते उसके हटेगी उसके स्थान में तभी भगवान की भक्ति आएगी तो एक दूसरे के विपरीत ये सब इस प्रकार की जितने उदाहरण दिए एक दूसरे के विपरीत के दिए लेकिन यहाँ पर है इसमें तो अनल प्रगत पर हुई अग्नि तो भरत बिल्कुल ठंडा उसमें अग्नि था और उसके आग काम करने वाली अग्नि उसके विपरीत लक्षण जहाँ ताप है वहाँ शीतलता नहीं जहाँ शीतलता है वहाँ ताप नहीं एक दूसरे के विपरीत गीते अनल बर होई और विमुख राम शिव पावन कोई इसी प्रकार से भगवान से विमुख होकर के कोई सुख नहीं पा सकता ये बार बार बताया भगवान से जो विमुख है उनको सुख नहीं जो भगवान के अनुकूल है विमुख नहीं बल्कि अनुकूल है अनुकूल तो नहीं परमात्मा का ज्ञान परमात्मा में भी चित्त लगा हुआ है उसी में सदा उसी का ध्यान चिंतन करते रहते हैं शांत स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा जिनके हृदय में उपलब्ध हो गया और चित्त भी उसी परमात्मा के आनंद में मग्न है विष्णु जी को आनंद ऐसे जहाँ उस आनंद में स्थित है तो फिर उनको उसी उनका मन और बुद्धि उनमें भी फिर वो आनंद की उपलब्धि होने लगती है और उस आनंद का अपने व्यवहारिक काल में भी उनको उसका आनंद दिखाई देता है उसकी प्रसन्नता उनको दिखाई देती है जीवन काल में जिनको राम से भगवान राम से जुड़े थे विचारती में पड़े हुए हैं बस उनके जो व्यवहार में भी उनका व्यवहार जो है कलुषित यहाँ पर की कुमत का व्यवहार हम्म, विरोध नाना प्रकार की झंझटें झगड़ा कहासुनी मारकाट अल्लाह गुल्ला ये सब जो है सब त्योहार में तो संसारी व्यक्ति का विषय लोगों का इस प्रकार का स्वभाव तो जो विपरीत जीवन की रूप है ये कहा कि व्यक्ति के आनंद में जीवन तो तब है जब वो परमात्मा का ज्ञान हो परमात्मा में चिकित्सित हो अन्यथा नहीं सकता तो जिन शुभ पावन कोई ऐसे और भी मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए उस बात को बड़ी सोच होना चाहते हैं जब किसी बात को बड़ी जबरदस्ती जनता के साथ में स्थापित करना हो चित्त में तमाम उदाहरण दे दे करके और उसी बात को बार बार दोहराते मैंने यहाँ भक्ति के लिए इतनी बार इतनी बार दोहराया कि दिशा शक्ति से चित्त को हटा करके परमात्मा के चरणों में चित्त को लगावे उसी में लगा रहने चाहिए उसी में कल्याण यही बात बात करें इसमें तो उदाहरण देते हैं भारी मथे घट हो ही बरो सिकता के बलते बारह पानी को मत करके भले ही बारह मत से झील कर पानी को मत करके झील पे निकाल लो कितना तो बड़े तेल बालू को तेल करके उसको कोई उसमें से तेल निकाल ले मैंने असंभव बालू में कहां तेल भरा पानी में कहाँ नहीं रखा तो उसे कहाँ से उसे निकल सकता है यह असंभव बात तो से निकाल लिया पानी क्या होगा बालू क्या होगा नहीं यही की जो विषय शक्ति है विषय है जगत है जगत की आसक्ति है ये भौगार संसार सागर जिसमें की व्यक्ति बना हुआ है जिनमें से अपने आप को सुख समझ रहा है उसमें अगर वो चाहे सुख निकाल ले तो कहाँ से सुख उसमें सुख रहा है संसार में सुख नाम के दूर भी नहीं उसमें से कहाँ से सुख निकल सकता अगर कोई कहे तो नहीं इसमें तो विश्व में तो बड़ा सुख है विश्व में सुख न हो तो व्यक्ति दिखाई लोग कैसे दिखाई सुख माने और सुख तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है सुगंध में भी बड़ा सुख है स्वाद में भी बड़ा सुख है सुसौंदर्य में भी बड़ा सुख है ये सभी जितने दिखे हैं सब सुखदायी ही है बिल्कुल सुखदायी लगते हैं लेकिन सुखदायी सब तक लगते हैं जब तक के व्यक्ति जो है हो इस संसार सागर में सपने के समान भटक रहा है तब तक उसके धान की बुद्धि जिसकी की कलिकाल ने या माया ने जिनकी जो बुद्धि को हरण कर लिया है उनको लगता रहेगा कि सब सुविधा ही लेकिन हम्म, तुलसीदास जी एक जगह उसमें दोहावली में एक जगह कहते हैं तो उसको नींद है कभी नहीं जा खिला के देखो तो क्या उसके कहने से नींद निकले हुआ जो जीव है विषय निंद पट लगत में पाई उसे विषय रूपी नींद कड़वी नहीं लगती तो जब तक विषय व्यक्ति को कड़वे न लगे तब तक समझो कि उसकी बुद्धि को माया ने धारण कर लिया उसकी बुद्धि के ऊपर पाला पड़ गया विषय भी अब उसमें मीठी लग रहा है स्वादिष्ट ही लग रहा है इसके माने जो वो हो उसको जो है वो सपने काटा हुआ है इस स्वभाव था है कि बारह मत से जब हुए अगर कोई इसी में से नाम रूपात्मक जगत में विषय में से कोई निकालना चाहे इस पानी रूपी जगत में से कोई भी निकालना चाहे मैंने सुख होना चाहे उसमें तो असंभव मिलने वाला नहीं बालू को पेड़ करके जैसे तेल नहीं निकल सकता इसी तरह से इन विषयों में संसारी जीवन में कोई सुख नहीं मिल सकता असंभव बात है दिन भजन न भव करी ये सिद्धांत कहते मैंने इसी प्रकार से संसार सागर के पार व्यक्ति का पद नहीं हो सकता जब तक भगवान का भजन नहीं करे ये संसार सागर क्या हो गया ये संसार सागर विषयों का ही सागर है जहाँ राजदेश और विषयों में राजदेश होता है और विषयों में आसक्ति होती है और विषयों में जो सुख मानता है जब तक उसमें भटकता है तब तक वो संसार सागर है अब इसी से छूटना है संसार सागर से छूटने के माने विश्वास शक्ति से छूटना राहुल से छूटना जिससे तो तब तक तब तब छूटे तो जब उसके परमात्मा के दर्शन परमात्मा भाव की प्राप्ति चित्त तो परमात्मा में लगे तभी तो हो सकता है उसके उसका नशा नहीं संसार छूटा था और कहते हैं मस्ता ही करेगी वीरेन के प्रभु अजय मस्त ये भगवान की महिमा बताते हैं तो भगवान कैसा समर्थ है तो जैसे एक जगह भगवान की महिमा सुनाते हुए कहा कि जो जल के चेतन कर दे चेतन को जल कर दे वो भगवान उसका भजन करो जो चेतन कहा जल करे जल ही करे चेतन असमर्थ समर्थ रघुनाए कहीं तो भजे की हो चेतन के लिए भगवान की महिमा है तो उनका पता लगे कि भगवान कितने सामर्थ्यवान है कितने महिमावान है ऐसे यहाँ कहा मच्छर ही करे निरंतर प्रभु इस मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं प्रभु हाँ? और अजय मत्स्य को ही और ब्रह्मा जी को एक मच्छर जैसा भगवाना बना दे ऐसे सामर्थ भगवान तो ऐसे समर्थवान भगवान को है अस विचार कवि संशय राम ही भजन प्रवीण ऐसा विचार करके सब संशय छोड़ करके राम भगवान राम का जो प्रवीण लोग हैं चतुर लोग हैं वो भगवान का भजन करते हैं प्रपंच जान में नहीं पड़ते हैं भगवान भजन आदि उसमें ये है ये उदाहरण के लिए पहले ब्रह्मा से मशक कर दे मशक से ब्रह्मा बना दे इसलिए कोई व्यक्ति अपने आप को ही न समझे ये न समझे अरे साहब हम तो विषयों के दंडन पड़े हुए हमारा कहाँ उद्धार हो सकता है तो उत्साहित करने के लिए अगर भगवान की कृपा हो तो आज आप भले ही मशक के समान बंधने के समान मेरी प्राणी हो लेकिन भगवान की कृपा होगी उनका भजन करते रहोगे तो तुम भी ब्रह्मा के समान हो सकते इसलिए व्यक्ति की व्यक्ति बहुत बार तो ज्ञान भक्ति परमार्थ में केवल इसीलिए लगता है अरे साहब हाँ, हमसे क्या होगा अरे साहब हाँ, हम क्या कर सकते हैं अरे हम क्या कर सकते हैं तो इसके लोगों को ऐसे लोगों को उत्साहित करने के लिए रामचरित मानस में मैंने कितने उदाहरण सब इत्यादि के दे दिए गीता में भी भगवान ने अनेक ऐसी प्रकार के देखे अभिषेक से जो हो भजित मां मनन्या भाव साधरे समन दिया इत्यादि श्लोक इसलिए दिए जिससे कि लोग जो है वो हीन अवस्था में हो तो वो भी उनका उद्धार हो सकता है ज्ञान से भक्ति से उनका सबका चित्र निर्मल हो जाए शुद्ध हो जाए महान बन जाए वाल्मीकि जैसे लोगों को उदाहरण दिए जाते हैं वाल्मीकि कहाँ इस प्रकार का मूर्ख व्यक्ति जो लोगों को इस प्रकार से उनकी जीवन हानि करने वाला ठगने वाला मारने वाला हत्या करने वाला वो फिर कहाँ से ऋषि बन गया मुनि बन गया कैसा रामायण कैसे तो रचना कर दी आदि कहीं पर तो हो गया तो कैसे बना दिया सब ये भगवान की कृपा है उन्हीं ने उसको जो वो कहा मशक से और कहा ग्रंथ बना दिया उसको ब्रह्मा बना दिया तो ऐसे संसार में कहा से कहा क्या व्यक्ति बन जाता है कभी कभी लोग ऐसे संसार में अब भी होते हैं कुछ खासान से व्यक्ति हैं कभी कभी उनके हृदय में प्रारत हो गए हुआ भगवान के भक्त हो गए ज्ञानी हो गए व्यक्त हो गए तो दूसरे लोग जल्दी उसे विश्वास नहीं करते अरे कहते क्या है सौ सौ बिल्ली चुहे खा बिल्ली खटकू चली ऐसे करके उसको कहते हैं क्या होगा क्या करेगा लेकिन ऐसे नहीं है भगवान कहते हैं साबिर योग समन दिया जहाँ व्यक्ति में इस प्रकार के सदगुण आने और उसमें इस प्रकार के आने तो उसको मान लेना चाहिए ये नहीं मानना चाहिए कि अगर हमने पहले देखते रहे दस वर्ष बीस वर्ष से कि वो भ्रष्ट था नीच था तो ऐसा ही बना रहेगा तो ऐसा ही सदा रहेगा वो बदल भी सकता है बदल जाता है तो उसके बदले वो रूप को भी स्वीकार करना चाहिए पुरानी बातें याद नहीं करनी चाहिए कि हमें सारे जीवन ऐसे यहाँ तो क्या होगा दोनों बातें एक व्यक्ति सब अपने आप को सोचता सारी चीजें तो मैं ऐसे आप क्या कर सकता हूँ कि यह संभावना व्यक्ति को लगी रहती है छोड़ देनी चाहिए उसे भगवान की भक्ति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए अब भी कर सकता है दूसरी तरफ ये कि अगर कोई व्यक्ति सारी जिंदगी गड़बड़ भी रहा हो और तब भगवान का भक्त हो जाए तो अन्य लोगों को भी चाहिए कि उसे भक्त माने कोई ऐसा नहीं कि सारे जीवन भक्त नहीं रहा है दुराचारी रहा है कोई डाकू रहा है तो उसको हम भी वैसे ही मानते मानने की जरूरत नहीं अन्य लोगों को भी परिवर्तन तो होता है इस प्रकार से आध्यात्मिक परिवर्तन है ही आध्यात्मिक विद्या इसलिए कि व्यक्ति में परिवर्तन आवे और परिवर्तन असंभव मान लो तो अध्यात्म विद्या किस काम की तो कोई काम के लिए रही अध्यात्म विद्या अगर व्यक्ति के उद्धार नहीं हो सकता परिवर्तन नहीं हो सकता विकास नहीं हो सकता तो अध्यात्म विद्या का एक किस्मत की तरह विकास है इसलिए कहते हैं परिवर्तन तो कुछ लेकिन मुश्किल है तो अस विचार का जो संशय है राम ही भजे प्रवीण इसलिए संशय छोड़ करके भगवान भजे संशय तो इसी बात का कि हमसे क्या होगा अरे हमारे ऊपर भगवान क्या कृपा करेंगे हम तो वैसे बड़े ही हैं हमारा क्या हो सकता है ये संशय है के संसार को छोड़ देना चाहिए और भगवान का ज्ञान प्राप्त करे भक्ति प्राप्त करे ये इसमें पीछे जो काभूषण ने उदाहरण दिए सदगुरु वैद्य वचन था इस प्रकार सदगुरु के पास रहे उसकी आज्ञा का पालन करे उसके अनुसार अपना बनाने का अपना जीवन निर्माण करने के लिए प्रयास करे ये सब उसे करे भक्ति के अभ्यास करे धीरे धीरे करके भक्ति लावे उसे करना चाहिए और होगा उसमें परिवर्तन ऐसा विश्वास दिलाते हैं इसलिए कहते हैं विनिश्चितम बदामी ते नान्यथा वचान सुनते निश्चितम बदाम थे ते निश्चितम बदाम मैं तुमको बिल्कुल निश्चित बताता हूँ और निश्चित ही नहीं विनिश्चित बताता हूँ बिल्कुल निश्चित बताता हूँ उसमें किसी प्रकार के संदेह की बात ही नहीं और न अन्यथा वचान सुने और हमारे वचन जो है वो अन्यथा भी नहीं अन्यथा मैं झूठ बात नहीं मैंने हम झूठ मूठ नहीं बता रहे बिल्कुल निश्चित करके सत्य बात तुमको बता रहे हैं आप बताओ और कोई अगर किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से विश्वास है और सही बात बोल रहा है तो बेचारा और क्या कह सकता है अगर कालभूषण भक्ति का प्रतिपादन करना चाहे ज्ञान का प्रतिपादन करना चाहे तो बेचारे इससे ज्यादा और कौन सी भाषा लाओ क्या कह सकते हैं कितने से कह सकते हैं हम जो कुछ कह रहे हैं झूठ नहीं कह रहे हैं हम जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल निश्चय कह रहे हैं हम जो कुछ कह रहे हैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं कितने जीवन हमने इस प्रकार पार किए और हमारा उद्धार हुआ तो कैसे उद्धार हुआ उस आधार पर हम कह रहे हैं और फिर भी तुम न मानो अब न मानो तो फिर तुम्हारा प्रारब्ध तुम जानो तुम्हारा काम जाना हम अपना जितना बताना था तो सब तुम्हें बता दिया समझा दिया ऐसे कहते हैं कि हरिम नरा भजनती ये ये नरा हरिम भजंती जो मनुष्य भगवान का भजन करते हैं अति दुष्कर्म करम थे तो वो अति दुष्कर से पार हो जाते हैं तो अति दुष्कर तो विशेषण है इसके बीच में जोड़ना पड़ेगा ये शब्द अति दुष्करम भवसागरम करमती थे वो अति दुष्कर भवसागर से पार हो जाते हैं कहीं कहीं इस प्रकार के शब्द जो है वो जो बहुत ही होता है स्पष्ट है लेकिन उससे लिखा नहीं जाता तो अपनी तरफ से जोड़ना करता तब उसका पूरा लगता है जिसमें से शंकराचार्य जी ने भी जब उपनिषदों की व्याख्याएं लिखी है तो कहीं कहीं किसी किसी श्लोक में उसमें देखते हैं कि देखो यहाँ पर ये शब्द जो है वो छोड़ दिया गया है ये जोड़ो तब आपको सारा पूरा अर्थ साफ दिखाई तो ऐसे करके यहाँ पर अति दुस्तर से पार हो जाते हैं तो अति दुस्तर क्या चीज है इससे पार अति दुस्तर संसार भाग जिससे आ सकती क्लेश दुख भय मानस रोग अशांति जीव भाव ये सब अति दुस्तर है इनसे व्यक्ति पार हो सकता है भगवान का भजन करे उनका ज्ञान प्राप्त हो चित्त उसमें लगा ले इन समस्याओं से उसका छुटकारा हो सकता है